वाङ् मे प्रतिष्ठिता मनो मे पाशि प्रतिष्ठितम् आदिरादि फलेति वेदस्य मानानिस्तः सुतम् मे मा प्रासि होरात्रान् सन्तरामि नित्यम् वदिष्यामि ऋग्वेदी ऐतुर्य परिषद तृतीय अध्याय के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था ऋषियों ने परस्पर विचार किया कोयम आत्मा वयम उपास है हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वो आत्मा क्या है कतरा सा आत्मा वो आत्मा कौन है ऐसे उनको बुद्धि बन गई तो बामदेव ऋषि जिस आत्मा को जान करके अमर हो गए थे वो तो आत्मा कौन है तो ऐसे विचार करने लगे परस्पर विचार करने लगे तो विचार करते हैं तो उनकी बुद्धि में दो आत्मा दिखाई पड़ते हैं एक पैर के अंगूठे से प्रविष्ट है जो अपर आत्मा हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं इंद्रिय समुदाय प्राण पूरे प्राण समुदाय है और एक मूर्धा को भेदन करके इस उदाहरण करके प्रविष्ट हुआ है जिसमें योग की सृष्टि हुई वो आत्मा है तो मुख्य आत्मा तो ये दो आत्माओं में से कौन आत्मा हमारी आत्मा क्या है विचार करने लगे ये चल रहा था ठीक है देखिए आगे एवं विचारे क्रिय मारे इस प्रकार से जब विचार करने लगे वो कौन आत्मा हो सकता है प्राण भी दिखता है एक तो प्राण के बिना भी शरीर नहीं चलता इंद्रिय प्राण के बिना शरीर नहीं चलता और चेतन के बिना भी नहीं चलता कौन है मुख्य ये विचार किया एवं विचारे प्रिय माने इस प्रकार से विचार करने पर अति परिशुद्धांत कर्मत्वाद उन ऋषियों के अंतर्गत अत्यंत शुद्ध है तपोबल से एकाग्रता है उनमें अति परिशुद्धांत करणत्वात अत्यंत परिशुद्ध अंतकरण होने के कारण तेषा प्रपदाभ्याम प्रपन्ने करणत्व अनात्मत्व निश्चय मूर्धा प्रविष्ट उपलब्धि आत्मत्व निश्चय अभूत इत्या विचार चल रहा था विचार करने पर ऋषियों का अंतकर्म अति पवित्र है अत्यंत पवित्र हो चुका है शुद्ध है इसलिए उन ऋषियों में ये अंतकर्म में स्फूरित हो गया क्या स्फूरित हुआ प्रपदाभ्याम प्रपन्न कर्णत्व अनात्मत्व निश्चय तो पैर के अग्रभाग से जो प्रविष्ट हुआ आत्मा है वह करण है करण होने से अनात्मत्व निश्चय अभूत है आगे अनात्मत्व निश्चय हुआ पैर से जो प्रविष्ट हुआ आत्मा नहीं है अनात्मा कोटि में संघात कोटि में है ऐसा निश्चय हुआ और मूर्धा प्रविष्ट है उपलब्धित्व मूर्धा से जो प्रविष्ट आत्मा है उपलब्धा रूप से पाया दृष्टास्त्रोता आदि रूप से पाया उपलब्धा उपलब्धा होने से माने करण के द्वारा उपलब्धा अपने साध्य की उपलब्धि करता है तो मुर्दा प्रविष्ट है मुर्दा से प्रविष्ट जो आत्मा है उसका उपलब्धृत्य न उपलब्धा रूप से आत्मत्व निश्चय अभूत उसमें आत्मत्व का निश्चय हो गया तो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट है उसमें अनात्मत्व निश्चय हुआ और मूर्धा से जो प्रविष्ट हुआ है उसमें आत्मत्व निश्चय हो गया क्यों अत्यंत परिशुद्ध अंतकरण वाले हैं विष्णु यही कहना चाहते हैं पुनस्तेषाम विचारयताम भाष्य में तेषाम विचार है तो विचार करने वाले जो ऋषि लोग हैं परस्पर विचार करे तो मिला विशेष विषय मतिर अभूत करते हैं विशेष विचार विशेष विचारण का जो आस्पद है आश्रय है दो आत्मा उसमें वो दोनों को विषय करने वाली पति हो गई कौन सा आत्मा मुख्य हो सकता है इसमें प्रथम कैसे उन्होंने विचार किया कैसे उनकी बुद्धि बनी तब कहते हैं वे वस्तु ने अश्विन पिंडे उपलब्ध थे दो वस्तु इस पिंड में शरीर के पिंड में दो वस्तु की उपलब्धि होती है दो है यहां अनेक भेद भिन्न न करण एन उपलब्ध एक तो यह है अनेक प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से जिसके मान इंद्रिय बन करके जिस प्राण के द्वारा उपलब्धि होती है एक और यश्च एक उपलब्ध है जो एक आत्मा ऐसा उपलब्ध करने वाला उपलब्धता है मान एक कारण के रूप में है एक कर्ता के रूप में है अनेक भेद भिन्न करण एन उपलब्ध थे अनेक प्रकार के जो इंद्रियों के माध्यम से जिस प्राण के द्वारा उपलब्ध होता है एक ये साधन को थी और यश्च एक वो तो अनेक था और एक है एक उपलब्ध है जो उपलब्ध करता है जो करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिशत कहते हैं ये उपलब्ध कैसा होता है देखो एक इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध विषय का आज वो इंद्रिय न होने पर भी मान स्मरण करता है अगर वो प्राण रूप आत्मा होता इंद्रिय समुदाय आत्मा होता तो जैसे चक्षु से पहले कहीं देखा था किसी मंदिर आदि का हमने दर्शन किया था आज चक्षु नहीं है अंधा हो गया स्मरण नहीं होना चाहिए इसके मतलब तो प्राण समुदाय से अतिरिक्त आत्मा है जो चक्षु से दृष्ट काल में भी था अब यहां स्मरण काल में भी है ठीक है कर्णांतर उपलब्ध विषय अन्य कारणों के द्वारा उपलब्धि जो विषय उपलब्ध हुआ विषय है स्मृति प्रतिसंधान स्मरण का अनुसंधान होता है तो माने करण के न होने पर भी पहले करण था अभी करण नहीं है उसका आत्म स्मरण होता है इसका मतलब करणों से उपकरणों से अतिरिक्त आत्मा ही सिद्ध होता है तत्र न तावत एन उपलब्धते स आत्मा भवितवर्ती जिसके द्वारा उपलब्धि होती है विषयों की हाँ, यह आत्मा नहीं हो सकता माने प्राण प्राणात्मा आत्मा नहीं क्यों वो करण है तत्र दो आत्माओं में से न तावत एन उपलब्ध है स आत्मा फलत जिसके द्वारा उपलब्धि होती है वह आत्मा नहीं हो सकता है ये न पुनर्पलब्ध है फिर किसके द्वारा उपलब्धि होती है प्रश्न उठा तो कर उचित ये न चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति जो चक्षु के मैंने प्राण रूप होकर के प्राण से प्राण कहा है हाँ, चक्षुर्भूतेन माने चक्षु माने प्राण से अभिन्न चक्षु बनकर के ऐसा होकर के रूपम पश्य रूप दिखता है जो रूप को देखता है ये नवाज श्रीमती जिसके द्वारा सुनता है जिस आत्मा से विषय शब्दों को सुनता है स्रोत्र भूत न स्रोत्र से अभिन्न होकर के सुनता है शब्द ये नवा घ्राण न गंधान आदि ग्रति जिस घ्राण से अभिन्न बन करके गंधों का जिग्रहण करता है गंध सुनता है भी असुर भी का जानता है ये नवा वाक कर्म भूते न वाचम नामात्मिकाम व्या करोगी जो कि पानी से अभिन्न होकर के जो आत्मा शब्दों को वाचक मन नाम आदमी का शब्द रूपा शब्दों को पूंजीभूत करता है व्यवहार करता है क्या व्यवहार करता है गौर अश्व गौ बोलता है अश्व बोलता है शब्दों का व्यवहार करता है वाणी से अभिन्न होता है वाद्याम साधु असाधु यह अच्छा है खराब है ऐसा भी बोलता है वाणी से अभिन्न होकर के शब्द प्रयोग करता है जो आत्मा ये बात जिह्वा भूतेन स्वादु च असाधु च विचार जिह्वा से अभिन्न होकर के क्या करता है स्वादु अस्वादु विषयों को सेवन करता है जानता है ये स्वादु है सुस्वादु है ये स्वाद नहीं ऐसा मानता है वो आत्मा है ऐसा निश्चय किया टिप्पणी थी चक्षुर्भूतेन माने प्राणेन चक्षुर्भूत प्राण के द्वारा जो रूप को देखता है प्राण के माध्यम से चक्षुरूप प्राण के द्वारा जो रूप को देखता है आत्मा होगा इधर भी एक नंबर टिप्पणी थी गौरस्व नाम नाम उच्चारण तेसाम साधुत्व साधुत्वादि कथन से व्याकरोती कहते नामों का उच्चारण करता है गौ बोलता है अश्व बोलता है शब्दों का उच्चारण करता है और वो के ये अच्छा है खराब है साधुत्व अशुद्धता असाधुत्व का कथन भी करता है यह अशुद्धता गौरव से टीका से है विशेष विचारणास्पद विषय मतिर अभूत भाष्य में लिखा है उसका अर्थ करते हैं विचारण विचारणास्पद पद प्राणात्म प्राण आत्मद्वय विषय विचार का आश्रय क्या गुना हो एक प्राण और एक आत्मा दो है विचार विचारणास्पद विचारण का जो आस्पद है आश्रय है प्राण और आत्मा द्वय विषय दो को विषय कर रहे हैं आप ऋषि लोग कौन हो सकता है आत्मा करके एक अस्मिन कर्णत्व अपरस्मिन उपलब्धित्व न प्रकार विशेष रूपा मतिर अजायता उनमें क्या हुआ जो विचार चल रहा था एक में तो करण रूप से साधन रूप से देखने का साधन है सुनने का साधन है इस रूप से और दूसरे में उपलब्धित्व उपलब्धता के रूप से आत्मा में प्रकार इस प्रकार से विशेष रूपा मतिर अजात विशेष रूप की बुद्धि उनकी पैदा गई एक करण है जो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट हुआ करण कोटि में साधन कोटि में देखने के साधन है सुनने के साधन है और ये देखने वाला सुनने वाला आत्मा है ऐसा बुद्धि हो गई ये कहा शंका है टीका में ननु द्वयो सत्व इम विशेष मति तदेव नास्ती पूर्वादि कहता है दो यदि आत्मा हो प्राणात्मा और शुद्धात्मा दो आत्मा हो तब ये बुद्धि होगी ये कारण रूप से होगी या उपलब्धा रूप से बुद्धि होगी किंतु है ही नहीं दो आत्मा प्रश्न किया कथम कैसे ये प्रश्न हुआ उत्तर देते हैं चक्षुषा पश्यामी इत्यादि प्रकार दो दोनों आत्माओं की प्रतीति हो रही है प्राणात्मा की भी और मुख्य आत्मा का भी चक्षुषा पश्यामी कहता है आंख के द्वारा देखता हूं ऐसा बोलता है देखने का मेरा साधन आंख है चक्षुषा पश्यामी श्रोत्रेण शब्दम श्रृणोमी ऐसा बोलता है चक्षुषा पश्यामी तो वहां चक्षु जो प्राण रूप आत्मा है वो तो करण रूप में है और पश्यामी ये करता है दर्शन क्रिया का करता है ये दोनों आत्मा है यहां यही कहते हैं चक्षुषा पश्यामी इत्यादि प्रकार चक्षुषा पश्यामी ऐसा बोलता है मैं आंख के द्वारा देखता हूं ऐसा बोलता है तो आंख को देखने के साधन है और आत्मा देखने वाला है ऐसा दिखता है चक्षुषा पश्यामी इत्यादि प्रकार दो प्रतिदेव दो आत्मा की प्रतीति है यहाँ इसलिए नहीं ऐसा नहीं दो आत्मा नहीं है नहीं कहना कहा दे वस्तु इत्यादि भाषण कहा द्वे ने अस्मिन पिंडे उपलब्ध थे इस पिंड में शरीर रूप पिंड में दो वस्तु की उपलब्धि है होती है दो वस्तु है ठीक है ये न उपलब्धते यश्च उपलब्धते जिसके द्वारा उपलब्ध करता है एक तो वो है प्राणात्मा है और एक है यश्च उपलब्ध है जो उपलब्ध करता है वो मुख्य आत्मा है ये न उपलब्धते यश्च उपलब्ध जिससे उपलब्धि करता है व्यक्ति साधन है और यश उपलब्ध है जो उपलब्ध करने वाला है कि तो वे उपलब्धि कर्तृ करने उपलब्ध में कर्ता और कर्ण बने हुए दो आत्मा है चक्षुरादि जो है वो प्राण रूप आत्मा है वो कर्ण रूप में है और उपलब्ध करने वाला मुख्य आत्मा है ये कहा ये न उपलब्धते यश्च उपलब्धते जिसके द्वारा उपलब्ध उपलब्ध करता है अथवा जो उपलब्ध करता है दो आत्मा है ते द्वे वो दो है उपलब्धि कर्तिगण है उपलब्ध उपलब्धि में कर्ता और करण बने हैं जो विषयों को उपलब्ध करते समय में एक कारण रूप में है कर्ता रूप में है कर्तिगण वस्तु नहीं दो वस्तु है उपलब्ध देते तो ही दिया दो वस्तु यहाँ उपलब्धि होती है शरीर तत्र किम कारणम इतना उसमें कौन कारण है और कौन उपलब्ध करता है प्रश्न उठा तो कहा अनेक भेद भिन्न करण एन उपलब्ध है यह कर्ण कोटि अनेक है वो चक्षुरादि अनेक हैं अनेक भेद भिन्न करणेन अनेक प्रकार विशिष्ट अनेक भेद के भेद से युक्त कारण के द्वारा जिस जिस करणों के द्वारा उपलब्ध होता है करता है और यश एक उपलब्ध है जो एक व्यक्ति है जो उपलब्ध करने वाला है वो एक है बाकी कर्ण कोटि का अनेक है ठीक टीका में बोलते हैं चक्ष श्रोत्र आदि अनेक भेद भिन्न एक नहीं है प्राणात्मा जो है अनेक है चक्षु स्त्रोत्र आदि अनेक है अनेक प्रकार से अनेक इसके द्वारा क्या सिद्ध हुआ तो कहते हैं यद अनेकात्मक चक्षुरादि कर्म संघातात्मकम प्राण स्वरूपम जो अनेक स्वरूप वाला है चक्षुरादि कर्म का पुण्य है प्राण स्वरूप आत्मा है यद अनेक चक्षुरादि कर्म संघातात्मक जो अनेक है चक्षुरादि कर्म के समूह समूह स्वरूप जो प्राण स्वरूप आत्मा है वह तत्संघ तत्वात वह संघात रूप हो गया परार्थत्व परार्थम जो संगात होता है दूसरे के लिए होता है समुदाय जो होगा समुदाय के लिए होता है ये संगात को में है परमात्मा परार्थम पर से सत्व न करण तब दूसरे के अंग बनता है शेष बनता है उसका भोक्ता दूसरा होगा उसको चलाने वाला दूसरा होगा दूसरे के शेष होने के कारण गौण होने से कर्णम के कर्ण हो जाता है उपलब्धरी टिप्पणी थी एक दो नंबर की अनेक इति विशेषण वाक्य न अनेक जो विशेषण लगाया अथवा वाक्य है इसके द्वारा कहा आगे कहते हैं उपलब्ध ऋतु जो उपलब्धा है उपलब्ध ऋतु अनेकात्मकत्वाभावात अनेक स्वरूप नहीं है उपलब्धा एक है जो उपलब्ध करने वाले साधन अनेक हैं समुदाय समूह हो गया समूह जो होता है दूसरे के लिए होता है संघा और जो उपलब्धा है वो एक अनेकात्मकत्वाभावात या अनेक स्वरूप नहीं है उसका एक एक स्वरूप है उसका अभाव न परार्थत्व शेषत्व वो परार्थ नहीं होगा किसी का अंग नहीं बनेगा वो किसी के लिए नहीं होता वो जो संघात होता है दूसरे के लिए होता है प्राणात्मा संघात है दूसरे के लिए है और आत्मा एक है वो संघात नहीं है वो दूसरे के लिए नहीं है वो अपने लिए है इंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय आर्जन करते हैं हम अपने लिए करते हैं इंद्रियों के लिए विषय आर्जन नहीं करते इंद्रियों के द्वारा जो विषय आर्जन होगा उसका सुख दुख का साक्षात्कार हमें करना होता है वो हमारे लिए इंद्रियों के लिए नहीं होगा किंतु शेषित्व में वह तो जो मुख्य आत्मा तो शेष ही बनेगा उनके उपलब्धा बनेगा शेषित्व में वक्तुम एक ही उत्तम तो इसलिए एक शब्द लगा दिया यश्च एक उपलभते इत्यादि कहा था टीका मैं आगे अनैना कर्ण से परार्थत्व इससे क्या सिद्ध हुआ करण जो होता है साधन जो होता है दूसरे के लिए होता है साधन के द्वारा जो फल बनाया जाता है वो फल का भोग साधन नहीं कर सकता दूसरे के लिए होता है साधन है अनैना कर्ण से परार्थत्व जो करण होते हैं परार्थक होते हैं दूसरे के लिए होते हैं परम शेषिणाम शेषिणाम अंतरा अंकपन्नम सत परम शेषी के बिना उसके जो मुख्य व्यक्ति होगा उसके बिना अनुपन्न सिद्ध ही नहीं होंगे कारण परम शेषीणम अंतरा शेषी के बिना उस उपलब्धा आत्मा के बिना अनुपन्नम सत माने सिद्ध न होते हुए व्यतिरिक्तम उपलब्धारम कमाएगी ये जो कर काम करना है इससे अतिरिक्त कोई उपलब्धता है सिद्ध करते अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है अर्थापत्ति प्रमाण लग जाएगा अगर कोई इसका भोक्ता न होता तो इनके द्वारा रूपादि का ग्रहण करना व्यर्थ होता तो इनके रूपादि के ग्रहण हो रहा है इसका मतलब इसका भोक्ता है तो एक है ये सिद्ध हो जाता है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है ये कह रहे कर्ण से परार्थत्व कर्ण जो होता है दूसरे के लिए होता है साधन है वो परम शेषिणम अंतरा जो दूसरा जो शेषी होगा इनका भोक्ता उपलब्धा जो होगा उसके बिना अनुपन्नम सत्य करण नहीं हो सकते इसलिए परम व्यतिरिक्तम उपलब्धारम गमयती ये कहा ये जो करण है ये क्या काम करते हैं अपने से भिन्न जो उपलब्धता है उसको सिद्ध करते हैं ज्ञान कराते हैं तस्मिन अपनी तत्प्रमाण उगता उसके विषय में उपलब्धता के विषय में भी अर्थापत्ति प्रमाण बता दिया यदि आत्मा न हो तो इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का आर्जन करना सार्थक नहीं होगा इधानी करणाना में उपलब्धित्व तद व्यतिरिक्त उपलब्धा नास्ती दिवदंतम नास्तिकम प्रति प्रमाणांतर महा कहते हैं नास्तिक लोग कहते हैं इंद्रिया ही चेतन है उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं है उस बाद ऐसा बोलता है माना आत्मा इंद्रिय ही है जो कुछ है चेतन है इंद्रिय है उससे अतिरिक्त कोई आत्मा नाम के चेतन नाम की वस्तु में बोलते हैं उनके वो नास्तिक के प्रति अन्य प्रमाण देना चाहते हैं कहते हैं इधानी करणानाम है वो उपलब्धित्व ऐसा मानते हैं करण ही उपलब्ध है इंद्रिया जो होते हैं वही उपलब्ध है उपलब्धित्व तद व्यतिरिक्त उपलब्धता ना थी कारणों से इंद्रियों से अतिरिक्त कोई उपलब्धता नहीं है इति बदंतम नास्तिकम प्रति ऐसे कहने वाले जो नास्तिक लोग हैं इंद्रिय से अतिरिक्त कुछ भी नहीं इंद्रिय जो कुछ ऐसा कहने वाले नास्तिक लोग हैं उनके प्रति अन्य प्रमाण देते हैं क्या प्रमाण देते हैं स्मृति का प्रतिसंधान देते हैं स्मरण देते हैं ये कहना क्या कहा करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधान देखो यदि करण ही आत्मा हो चेतन हो तो यदि चक्षु ही आत्मा हो चेतन हो तो चक्षु ने कभी कोई दर्शन किया है कोई स्थान का विशेष स्थान का दर्शन किया है आज चक्षु अंधी हो गई है ऐसी स्थिति में स्मरण होता कि नहीं होता पूर्व अनुभूत वस्तु का स्मरण होता है अगर चक्षु ने ही चक्षु ही आत्मा हो चेतन हो तो चक्षु तो मर गई क्योंकि स्मरण और अनुभव अनुभव और स्मरण एक ही व्यक्ति को होगा दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया हुआ अनुभव का दूसरे व्यक्ति को स्मरण नहीं होता किंतु यह स्मरण हो रहा है इसके मतलब इंद्रिय से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है अगर इंद्रिय ही आत्मा होता जिस इंद्रिय ने वस्तु का अनुभव किया वो इंद्रिय आज नहीं है न होने पर भी उस वस्तु का स्मरण तो होता है किसी व्यक्ति ने बद्रीनाथ का दर्शन किया था कालांतर में अंधा हो गया उसके बद्रीनाथ का ख्याल नहीं आता क्या आएगा अगर इंद्रिय ही आत्मा हो होती तो क्या होता वो तो मर गई अंधा हो गया सचक्षु अवस्था में बड़ी रात का दर्शन किया था आज अचक्षु अवस्था है तो आज स्मरण नहीं होना चाहिए था किंतु स्मरण होता है इसका मतलब इंद्रिय से अतिरिक्त आत्मा ये सिद्ध करता है ये कहा <coughs> ये कहा करणांतर उपलब्ध उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिधानात अन्य करणों के द्वारा उपलब्ध जो विषय था उसका स्मरण होता है कालांतर में इसका मतलब कारण से अतिरिक्त आत्मा है इंद्रिय से अतिरिक्त होता है टीका में कहते हैं इसको पूर्वम चक्षुषा रूपम दृष्टवा पहले चक्षु के माध्यम से रूप को देखकर रूप को देखा देखकर पश्चात उद्धृत चक्षु आगे जाकर के अब चक्षु निकल गई जिसकी उद्धृता चक्षु यश्य जिसके चक्षु निकल गई मैंने अंधा हो गया है व्यक्ति पहले रूप को देखा था उसने नील पिता रूप देखा था तो पश्चात उदृत चक्षु जिसके आंख निकल गई हो ऐसी स्थिति में होता हुआ स्मृति फिर भी याद करता है उस रूप का अगर चक्षु ही आत्मा होती तो स्मरण नहीं होना चाहिए क्यों अनुभव और स्मरण एक ही व्यक्ति में होता है दूसरे का अनुभव का दूसरे को स्मरण नहीं होता जिसको अनुभव हुआ है उसी का स्मरण होना है तो इसके मतलब चक्षु से अतिरिक्त आत्मा है सिद्ध होता ठीक है पूर्वम रूपम दृष्टा पश्चात उदृत चक्षु स्मरती रूपम अत्राक्षम यदि ऐसा करता मैंने रूप को देखा ऐसा स्मरण करता है इसके मतलब चक्षु से अतिरिक्त आत्मा है सिद्ध होता है तथा उसी प्रकार यो अहम अत्राक्षम सएव इदान स्पृशा फिर ये बोलता जो मैंने देखा था आज वही मैं छूता हूं एक इंद्रिय से पहले देखा हुआ है दूसरे इंद्रिय से आज मैं छूता हूं मैं एक ही हूं पहले देखने वाला भी मैं अभी छूने वाला भी अगर चक्षु ही इंद्रिय हो क्या आत्मा हो तो चक्षु छू नहीं सकती है यो अहम अद्राक्षम सो अहम पश्यामी हाँ, सो अहम पुरुषामी ऐसा बोलता है एक यो अहम अद्राक्षम सएव इदानी स्पृशामी ऐसा बोलता जो मैं मैंने देखा था मैंने पहले जिस मैंने देखा था वही मैं आज छूता हूं तो देखने वाला छूने वाला एक ही व्यक्ति है अगर चक्षु ही होती वो बोलने वाली तो चक्षु तो छू नहीं सकती आप देखा था उसने छू नहीं सकती हाँ। अगर तो इंद्रिय आत्मा हो तो उसने देखा नहीं है तो यहाँ एक ही बोल रहा है जिसने देखा वही छूता छूता हूं बोलता है यो हम अद्राक्षम सो हम पश्य कृष्ण इससे भी सिद्ध होता है कि इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा है मुख्य आत्मा है सिद्ध होता ही का यो अहम अद्राक्षम सैव इदान कृषामी प्रतिसंदराती प्रतिविज्ञा होती है उसको प्रतिविज्ञा ज्ञान होता है तत्ता इदंता को ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रतिविज्ञा बोलते हैं जिसने मैं जिस मैंने देखा वही मैं छूता हूं बोलता है तो प्रतिविज्ञा ज्ञान हो रहा है प्रतिज्ञा एक ही व्यक्ति को होता है जो मैं ऋषिकेश में था आज काश में आने वाला व्यक्ति वहां भी होना चाहिए यहां भी होना चाहिए देखने वाला और छूने वाला एक हो तभी प्रतिविज्ञा होगी देखने वाला कोई और हो छूने वाला कोई और हो वहां नहीं होगा प्रतिविज्ञा नहीं होगी प्रतिविज्ञा होती है इसका मतलब इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा है जो दृष्टि काल में भी था अभी पर्सन काल में पर्स काल में भी है ऐसा ज्ञान होता है प्रतिसन ददाती तीन नंबर की टिप्पणी माने प्रत्यभिज्ञान आती श्रेय होती प्रतिभिज्ञा ये ज्ञान होता है तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा तत्ता इदंता सोहम आदि बोलता है वही मैं हूं ऐसा बोलता है ये प्रतिविज्ञा ज्ञान होती है स्वयं देवदत्त है देवदत्त तो वही है पहले मैंने ऋषिकेश में देखा था आज उत्तरकाशी में दिखाई दे रहा है ये वही व्यक्ति है ऐसा बोलता है हाँ, ये प्रतिविज्ञा ज्ञान है ऐसा ऐसे ज्ञान को प्रतिविज्ञा बोलते हैं या प्रतिविज्ञा हो रही एक ही व्यक्ति में होती है प्रतिविज्ञा अन्य के देखा को अन्य का स्पर्श करना संभव नहीं होता है तब उभयम व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त उपलब्ध अभाव ये दोनों के दोनों क्या दोनों एक तो स्मरण होना एक प्रतिविज्ञा होना पूर्व दृष्ट वस्तु का कालांतर में स्मरण हो जाना आंख न होने पर भी ये ये भी और दूसरा है प्रतिविज्ञा जो होना है जिस मैंने देखा था वही मैं छूता हूं बोलता है प्रकृति में ये दोनों ये दोनों प्रमाण बन जाते हैं आत्मा के विषय तद उभयम ये दोनों जो हो रहा था स्मरण और प्रतिविज्ञा दो दोनों हैं ये दोनों व्यतिरिक्त उपलब्ध अभाव यदि अतिरिक्त उपलब्धता न हो इन इंद्रियों से उस स्थिति में न ये दोनों नहीं होना चाहिए स्मरण भी नहीं होना चाहिए माने पहले किसी का रूप को देखा था कालांतर में चक्षु निकल गई है चक्षु नहीं है उस काल में याद नहीं होना चाहिए किंतु याद हो रहा है इसका मतलब रूप दर्शन काल में भी वो आत्मा था अभी स्मरण काल में भी है चक्षु न होने पर भी आत्मा है कोई आत्मा को स्मरण होता है इसके बाद चक्षु से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है स्मरण के माध्यम से दूसरा जो मैंने देखा था वही मैं छूता हूं बोलता है या प्रतिविज्ञा होती है वो भी एक आत्मा है ये दोनों स्मृति और प्रतिविज्ञा के बल से आत्मा अतिरिक्त सिद्ध होता है ये कहा और वह व्यतिरिक्त उपलब्ध होगा वैसा अन्य अनुभूति अन्य से मृत्यु संधान और अदर्शा अन्य के द्वारा अनुभव किया हुआ विषय में अन्य को न स्मरण होगा न प्रतिविज्ञा होगी ऐसा नहीं प्रतिविज्ञा एक ही व्यक्ति के पहले अनुभव जिसने किया उसी का अभी भी हो तभी प्रतिविज्ञा होगी और स्मरण भी ऐसे होता है जिसने पहले अनुभव किया था आज उसी को स्मरण होगा दूसरे को नहीं होता ठीक है अन्य अन्य अनुभूति अन्य के द्वारा अनुभूत विषय में अन्य से स्मृति संधान और अदर्शना अन्य व्यक्ति का स्मरण भी नहीं होता अन्य के द्वारा अनुभव किया हुआ नहीं और अनुसंधान मैंने प्रतिविज्ञा भी नहीं होती है एक ही व्यक्ति में होना है प्रतिविज्ञा तत्ता ही तत्ता अवगाहन करने वाला इसलिए ये प्राणात्मा से अतिरिक्त आत्मा है सिद्ध होता है जिस साधन से रूप की उपलब्धता करने वाला आत्मा अलग है सिद्ध होता है ऐसे ऋषियों के मन में बात बैठ गई है कहा कहते हैं निष्कर्ष बताते हैं एवं अनेकात्मक से कर्णत्व जो अनेकात्मक है अनेक स्वरूप वाला है पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट है अनेक स्वरूप वाला है वो क्या है कारण है वो ये कथन करके एवं अनेकात्मक कर्णत्व उक्तवा जो कर्ण कोटि में है ये साधन कोटि के है मानी देखने सुनने के साधन में काम आते हैं ये देखने सुनने वाला व्यक्ति नहीं है एवं अनेकात्मक कर्मत्व ततएव इसलिए तस् आत्मत्व नास्ती जब कारण हो गया है तो आत्मा कारण नहीं होता कारण आत्मा नहीं होता आत्मा तो उपलब्ध होता है कर्ण के माध्यम से जो उपलब्ध करने वाला होता है वो आत्मा वो होता है एवं अनेकात्मक से कर्णत्व होता है जो अनेकात्मक है प्राणात्मक आत्मा है अनेकात्मक है वो अनेक रूप वाला है इसलिए कर्ण कथन करके तदैव इसलिए कर्ण होने से ही तस्य आत्मत्व नास्ती उस प्राणात्मा में आत्मत्व नहीं है ये सिद्ध हो गया क्या तत्र मतावत इत्यादि का यही निष्कर्ष करते हैं ऋषि लोग तत्र उन दोनों में से एक प्राणात्मा है और एक उपलब्ध आत्मा है ये दोनों में तत्र न तावत न उपलब्ध है आत्मा भविष्य जिसके द्वारा उपलब्ध करता है व्यक्ति वो आत्मा नहीं हो सकता जिसके द्वारा उपलब्ध करता है चक्षुरादि के माध्यम से उपलब्ध करता है वो आत्मा नहीं हो सकता पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट वाले हैं वो आत्मा नहीं हो सकता ठीक है मैं तत्र मैंने तयोर मध्य जाता है उन दोनों आत्माओं में जिसके द्वारा उपलब्ध करता है आत्मा नहीं होता ये सिद्ध हो गया अर्ति अनंतरम किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा भवित मरहती थी भक्षमा अन्वयन वाक्यम पूरणीय कहते हैं आगे अर्ति है तत्र न तावत एन उपलब्धे स आत्मा भवित न तावत एन उपलब्धे स आत्मा भवित अर्ति वो आत्मा होना योग्य नहीं जो कहा भाष्य में वो अर्ति के अनंतर ये लगाना है अर्ति के अनंतर क्या लगाना भाष्य में कहते किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा भवित मरहती परिशेष न्याय है प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्र अप्राप्त हो परिशिष्य मानव विविध परिशेष है जहां जहां प्राप्ति थी सर्वत्र निषेध करने पर जो शेष बच गया वो परिशेष होता है परिशेष या ये होता है तो अर्हति के आगे किंतु परिशेषा करणात्मा दो आत्मा थे तो करणा करण रूप आत्मा आत्मा नहीं हो सका और परिशेष क्या रह गया दूसरा वाला आत्मा रह गया यही है अरहति इति अनंतरम भाष्य में जो अरहति पंक्ति के आगे किंतु ऐसा लगाना पाठ किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा उपलब्धा जो होगा आत्मा वही हो सकता है ये सिद्ध हो जाएगा पक्षमाण अन्वय ना वाक्य पूर्ण आगे के साथ अन्वय करके ऐसा वाक्य पूरा करना एक कहा एवं अर्थम उपवर्ण इस प्रकार से अर्थ श्रुति का अर्थ को व्याख्या करके तम अर्थम श्रुति अक्षरारूढ़ कर्तुम पृछति उसी अर्थ को श्रुति के अक्षर के आरूढ़ करने के लिए पूछता है पूर्वादि पूछता है इसी बात को पुष्टि के लिए पूछता है कथम करके पूछता केन नमद इत्यादि पूछता है तम अर्थम चार की टिप्पणी ये न इत्यादि वाक्य से अभिप्राय ये न चक्षुषा पश्यति ये न बात कर भूतेन रूपम दृश्य इत्यादि है इसका ये न चक्षु भूतेन रूपम पश्यति का तो एक वाक्य है इसी का अभिप्राय बताते हैं कहा अच्छा के न पुनर् भाष्य में प्रश्न उठा के न पुनर्पलब्ध है फिर किसके द्वारा उपलब्ध करता है ये प्रश्न आया माने जिसमें से जिसके द्वारा उपलब्ध होता है तो आत्मा नहीं होता दो ही है तो दूसरा वाला क्या होगा कहा ये नवा इत्यादि बोलेंगे ठीक है ये तो भाष्य में ये नवा चक्षुर भूतेन रूपम प्रसिद्ध जो चक्षु से अभिन्न होकर के जो रूप को देखता है वह है मुख्य आत्मा ये नवा श्रृणवती श्रोत्र भूते न श्रोत्र से अभिन्न होकर के जो शब्द सुनता है ये नवा घ्राण भूते न कंदान आदि प्रति जो घ्राणेन्द्र से अभिन्न होकर के गंधों को सुनता है ये न बाक कर्म भूते न वाचम नामात्म काम व्याप्रति जो बाक माने कारण है और वाचम माने शब्द भाग हाँ। इंद्रिय बन करके और शब्द का उच्चारण करता है गौर अश्व इत्यादि उच्चारण करता है और साधु असाधु इत्यादि उच्चारण करता है और ये जिह्वा भूत एवं स्वादु स्वादु तभी जाना थी जिह्वा से अभिन्न होकर के रसनेन्द्रिय से अभिन्न होकर के स्वादु सुस्वादु अस्वादु को भी जानता है कहा टीका में कहते श्रुत्यारूढ़ करती इत्यादि श्रुति के आरूढ़ करते हैं श्रुति के द्वारा आरूढ़ करते हैं ये न इत्यादि कहा तृतीय कर्णत्व चक्षुराधिर उत्तम ये न इत्यादि कहा था तृतीया तृतीया के द्वारा कर्णत्व सिद्ध हो जाएगा चक्षुरादि में कर्णत्व सिद्ध हो जाएगा बाघ कर्ण माने बाघरूप कर्ण है ना इत्यर्थ रूप करने के द्वारा वाणी का उच्चारण करता है कहा बाचम इति कर्णम नक्षत यहां बाचम शब्द को कर्ण नहीं समझना बाघ शब्द का अर्थ कर्ण है और बाचम माने शब्द है बाघेन्द्र के द्वारा उच्चारित शब्द है बाघ शब्द का भी है यानी एक बाघ आया हुआ है और एक बाचम आया है ये वाचम जो द्वितीयांत है ये कारण नहीं है इंद्रिय नहीं है यह शब्द है वाचम इति करण न उच्चते वाचम शब्द के द्वारा करण नहीं कहा गया तस्य एन इति अनेन उत्तत्व वो जो कर्ण को तो बोल दिया है एन तस्य माने से कर्ण को तो एन शब्द से बोल दिया एन वाक कर्ण कर्ण होते न बोल दिया किंतु वक्तव्य उच्चते वाचम शब्द से वक्तव्य विषय को शब्द को वक्तव्य जो शब्द होगा उसको कहा गया वाचम शब्द के द्वारा वाचम शब्द का अर्थ करण नहीं है करण को तो वाक शब्द से बोल दिया गया है पहले किंतु फिर क्या होगा तो कहते हैं वक्तव्य उच्चते वाचम शब्द के द्वारा जो वक्तव्य विषय होगा वाणी का विषय क्या शब्द उसको कहा वाच शब्द नामात्मिका बोला इसके लिए नाम रूप जो वाणी को बोलता है मैंने शब्दों को बोलता है गौ अश्व ये नाम है ऐसा बोलता है बाघ इंद्र के से अभिन्न होकर के गौ बोलता है अश्व बोलता है नाम लेता है नाम का उच्चारण करता है वो आत्मा है गौर इति इदम नाम साधु गौ ऐसा नाम साधु है युगम की लगी हुई है साधु है गावी इति नाम असाधु गावी जो बोलेंगे गौ इति गावी असाधु पद है गावी ऐसा नहीं होता गौ होता है प्रथमा एक गौ बनेगा गौशल होता है ऐसा बोलता है गौर इति नाम इदम नाम साधु साधु असाधु गौ ऐसा उच्चारण करना साधु है और गावी इति असाधु नाम असाधु गावी नाम जो होगा असाधु होगा व्याकर ऐसे व्याख्या करता है इस वाणी के माध्यम से जो व्याख्या करता है वो आत्मा है बाघेन्द्र के माध्यम से जो ये, ये गौ है ये गौ पद साधु है अच्छा है माने व्याकरण की दृष्टि से अच्छा उच्चारण अच्छा है गावी शब्द अच्छा नहीं है ऐसा जो उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होगा वाणी के माध्यम से वह है व्याकरण है मैंने व्याकरण ना व्याकरण के द्वारा ऐसा करता है व्याकरण क्या है प्रकृति प्रत्यय को मिला करके करना गो प्रकृति सु प्रत्यय मिलाया हुआ है गौ गो प्रकृति है अंग है और सुप्रत्यय है ये कहते हैं व्याकरण यही होता है प्रकृति प्रत्यय को मिला करके शब्द साधु करने वाले को व्याकरण बोलते हैं यही व्याकरण होता है व्याकरण ना टिप्पणी कहा प्रकृति प्रत्यय विभाग सद्भाव असद्भाव प्रबंधन द्वारे प्रकृति और प्रत्यय के विभाग पूर्वक प्रकृति का क्या अर्थ है गो शब्द था हाँ, सु आया उसका क्या अर्थ होगा बहु बोलने के लिए सु प्रत्यय लगा है प्रकृति और प्रत्यय का विभाग सु का अर्थ एक वचन है गो माने एक चौबाया जानवर है हाँ, वहां अचोनी की लकड़ी गऊ बना है प्रकृति प्रत्यय विभाग सद्भाव इसका होना प्रकृति प्रत्यय विभाग होना अथवा न होना इत्यादि के द्वारा जैसे गौ इति पदम में प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बोला है इसके द्वारा कहा आगे व्यक्ति करोती का स्पष्टीकरण करता है व्यक्तिकरण में आविर्भाव शब्द का मान आविर्भाव करवाता है मैंने अर्थ का ज्ञान करवाता है यह अर्थ अच्छा यहां तक हो गया आगे कहते हैं आगे मंत्र है यदेतत् हृदय मनश्चैतत् संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानम प्रज्ञानम् मेधा दृष्टिर धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतुरसु कामो वसई सर्वाणी एव प्रज्ञान से नामधेयानी यदे तत् हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानं प्रज्ञानम् मेधा दृष्टे मनीषा भूति स्मृति संकल्प क्रतुरसु कामो वसई सर्वाणी एव प्रज्ञान से नामधेया भवन्ति यदि तत् हृदय माने हृदय शब्द का वाच्य बुद्धि जो ये बुद्धि है हृदय शब्द के द्वारा लक्षणावृत्ति से बुद्धि हृदयस्थ बुद्धि लक्षणावृत्ति से बोला है यदि तद हृदय माने जो बुद्धि है मनस्य है तद मन भी यही है जो बुद्धि है मन भी यही है यार ये तद हृदय जो ये हृदय है हृदय माने हृदय में रहने वाली बुद्धि लक्षणावृत्ति से कहा बुद्धि है मनस्य है तद मन भी यही है और संज्ञान भी यही है आज्ञान भी यही है सब यही होगा संज्ञान ऐसा माने चेतनता हमारे शरीर में जिसके हम चेतन बोलते हैं जिस चेतना के माध्यम से चेतना एक मनोवृत्ति है चेतना और चेतन हम होते हैं जिस चेतना के कारण चेतन कहलाता है चेतना यह है संज्ञान आज्ञानम माने होता है प्रभुता आदि आदेश देना आदि जो होता है और विज्ञान होता है जानना ये सब कोई बुद्धि है मन है ये सब मन बुद्धि एक ही चीज है उसी के वृत्तियां हैं सब विज्ञान प्रज्ञानम ज्ञान होना मेधा ये भी बुद्धि की वृत्ति है मेधा एक ग्रंथ अर्थधारण करने की शक्ति वाली वृत्ति को मेधा बोलते हैं दृष्टिर हाँ, देखना जो होता है धृतिर धैर्य धारण करना मन का ही धर्म है और मतीर मति माने मनन करना और मनीषा माने बुद्धि जूती दुख जो होता है स्मृति माने स्मरण और संकल्प जो होता है और क्रतु माने निश्चय क्रतु है क्रतु माने निश्चय और अशु माने प्राणादि व्यापार जैसा और काम माने क्या होगा असन्निहित वस्तु की अभिलाषा जो दूर में वस्तु की अभिलाषा इसको काम कहा और बस माने इच्छा बस कांत तो धातु है यदि सर्वाणी एवं यता जो कुछ भी है मन के जितने भी वृत्तियां हैं सारे मन की वृत्ति है बुद्धि और मन को एक करके बोला और मन की वृत्तियां ये सब उस प्रज्ञान स्वरूप जो आत्मा है प्रकृष्ट ज्ञान आती थी प्रज्ञान विशेष ज्ञान वाला आत्मा के नाम है ये तो मन के साथ अवैध होने से गौण नाम है मुख्य तो वो अनाम है नाम रूप से रहित आत्मा है किंतु मन के साथ अभेद होकर के मन का धर्म उसने आरोप करके नाम मान गए सर्वाणी एवं एतानी प्रज्ञान से नाम अधियानी भवंती सबके सब जितने भी कहे गए सब प्रज्ञान रूप आत्मा का नाम हो जाते हैं नाम कहलाता है इन नामों से कहा जाता है आत्मा को माने मन के साथ अभेद होने से मन के धर्म आत्मा में दिखते हैं ये नाम वाला हो जाता है आत्मा एक ठीक है हमें देखिए ननो चक्षुरादि नाम भी चक्षुरादि इंद्रिया तो कारण हो गई चलो देखने के लिए चक्षु कारण है सुनने के लिए श्रोत्र कारण है कारण है हो गया वन कर प्रपताभ्याम प्रविष्ट से प्राण से करणत्व किम आया था तो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट हुआ प्राण में क्या आया वो तो कर्ण सिद्ध हो गए चक्षुरादि इंद्रिया अभी भी प्राण तो मुख्य आत्मा ही हो सकता है ना उसका तो कुछ कहा नहीं आपने आत्मा के लिए देखने के लिए चक्षु है सुनने के लिए स्रोत है इत्यादि हो गया वो तो इंद्रियों की बातें आ गई मुख्य प्राण का क्या हुआ ये प्रश्न है ना चक्षुरादि नाम करणत्य भी आदि कर्ण होने पर भी साधन कोटि में आने पर भी प्रपदाभ्याम प्रविष्ट प्राण से जो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट जो प्राण है उसका सर्वत्व किम आया उसके कर्ण होने में क्या आया है पूर्ववादी शंका करता है कहा आठ की टिप्पणी किम आयातम माने किम उपपादकम क्या सिद्ध करने वाला क्या है प्रमाण क्या है इसके लिए प्राण को कारण बनाने में क्या प्रमाण है उपादक क्या है प्राण कारण है करके कैसे ये पूर्वादी की शंका आ रही है इसके उत्तर देते हैं भाषण पूर्वादी शंका करता भाषण किम पुनः तदेव तद एवं एकम अनेकदा भिन्नम करणम फिर ये क्या है वो जो एक ही जो कहा आपने अनेक प्रकार से भिन्न हुआ कारण करके कहा वो क्या है ये पूर्वाधिक शंका है टिप्पणियां हैं दो तीन चार दो में कहा अत्र एवकार रहित पाठ हेतु यदि एवकार न हो याद एवकार है कि पुनः तदेव कर्म तदेव अनेक अनेक भिन्नम कर्म या एवकार सहित पाठ है यदि एवकार रहित पाठ हो भाष्य में उस स्थिति में तो यद पदम अध्याय यद पद अध्याय यद एकम अनेकदा भिन्नम एक ही होकर के अनेक होने वाला मैंने चक्षुराज में दिया वो प्राणी हुआ है ऐसा भिन्नम किम पूर्णस्तव योजना वो क्या है एक होकर के अनेक होने वाला क्या है वो ऐसा पाठ लगाना कहा तीन नंबर में कहते हैं तदेव प्राण स्वरूप अंग्रह माने किम पुनः तदेव एकम अनेका भिन्नम कारणम वो जो प्राण स्वरूप ही एक ही अनेक हुआ कारण क्या है वो ये प्रश्न आया कर्म विधि चार विधि पर में कहते हैं उच्चते क्या है वो कारण तो सिद्धांत उत्तर देते हैं यदुक्तम पुरस्कार पहले कहा था हाँ, पहले माने इस ऐत्र उपनिषद में नहीं है पहले आरंभक में ये बातें आई थी पहले ऐसी बातें आई थी प्रजा नाम रेतो हृदय हृदय से रेतो मन ऐसा कहा ये जो शरीरों का सार होता है रेत मान सार हृदय हृदय माने वो रेत माने सार है हृदय है हृदय माने बुद्धि और हृदय से रेतो मना कहा उस बुद्धि का एक सार मन को कहा पहले मंत्र में ऐसा आया था माने आरण्यक में आया उपनिषद में नहीं है प्रजानाम रेतो हृदय रेत माने सार इस प्राणियों का जो मनुष्य आदि का सार क्या है हृदय है हृदय माने बुद्धि बुद्धि और हृदय से तो मन ऐसा आया और बुद्धि का भी सार मन है ऐसा आया ऐसे कारण आया था और भी कहा मनसा सृष्टा आपस से वरुण से ऐसा आया मन के द्वारा ही जल की भी सृष्टि हुई वरुण की सृष्टि हुई ऐसा भी आया और और भी आया हृदयात मनोहो हृदय से मन हुआ और मनस चंद्रमा मन से चंद्रमा हुआ ये भी आया इत्यादि तदेव एतद हृदय मनस्तर एकम एतद अनेक ये एक वो जो हृदय और मन को एक किया है तदेव एतद हृदय में जो हृदय है बुद्धि कहा था उसको और हृदय को मन को एक करके कहा तदेव एतद हृदय मनस एक एकम एतद अनेतरा ये ये भी मंत्र है वही जो हृदय है बुद्धि है और मन है वो एक है एक ही होकर के अनेक हुआ है ऐसा है ये कहते हैं एतेना अंतकरणेना यही अंतकरण जो कुछ है यही है अंतकरण ही है वही अनेक प्रकार हो जाता है ऐसा अंतकरण है ना पांच की टिप्पणी कहा एतेना मनो हृदय शब्द वाच्य न मन को ही हृदय शब्द से अर्थ हो गया है ऐसा होने से अंतकरण एक जो अंतकरण एक ही है रूप में पश्यति वही जो मन चक्षु होकर के रूप को देखता है मन से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है मन ही चक्षु होकर के रूप देखता है श्रोत्र न श्रोणती वो मन ही श्रोत्र होकर के सुनता है और मन ही घ्राण न जिग्रति घ्राण होकर के सूंघता है और भूते न बदती वाणी होकर के बोलता है वही मन जिह्वा न रसहती और जिह्वा होकर के रस आस्वादन करता है वही मन वही अंतकरण एक ही है अंतकरण अंतकरण में प्राण आ जाता है वही तो है सब कुछ होने वाला स्वेदैव विकल्पना रूपेण मनसा विकल्प और अपने रूप से विकल्पना करता है संकल्प विकल्प करता है अच्छा बुरा विचार करता है अपने रूप से विकल्प हृदय रूपेण अध्यवशति बुद्धि वृत्ति को लेकर के निश्चय करता है वही मन इत्यादि आया टिप्पणी एक दो में कहा पर विकल्प बना लेते पर मैंने स्व अभिन्न नहीं बन पहले तो बाघ आदि होकर के बोलना आदि किया था अब के बाद अभिन्न होकर के विकल्पना रूपेण मैंने संशय रूपेण संशय रूप से वही विकल्प करता है तस्मात सर्वकर्ण विषय व्यापारकम एकम इदम कर्म सारे इंद्रियों के व्यापार करने वाला या व्यापार को विषय करने वाला एक ही कर्म है अंतकर्म अंतकर्म में प्राण आया हुआ है यही है तस्मात सर्वकर्ण विषय व्यापारकम सभी कर्णों के विषयों के व्यापार करने वाला व्यापार वाला एकम इदम कर्म एक ही कर्ण है मन अंतकर्ण है यही करणम सर्व अर्थम उपलब्ध सारे उपलब्धि के लिए उपलब्धता के लिए कोई भी उपलब्ध करना हो तो मन चाहिए अंतकरण के बिना नहीं होगा उपलब्ध हो सर्व अर्थम सब कुछ उपलब्धि के लिए यही एक ही अंतकरण है यही बाणी बन करके उपलब्धता के लिए शब्द सुनने शब्द बोलने का काम आएगा स्रोत्र बन करके शब्द सुनने का काम आएगा यही चक्षु बन करके यही आएगा उपलब्धता के काम आएगा रूप देखने का काम आएगा इत्यादि तथा च कौशिकीनाम कौशितकीनाम कौशित की उपनिषद में कहा है प्रज्ञया वाचम समारूह्य बाचा सर्वाणी नामानी आपनोती प्रज्ञया चक्षु समारूह्य चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपनोति संसार में दो ही वस्तु होते हैं नाम और रूप प्रज्ञया प्रज्ञा होगा चिरावास युक्त बुद्धि के द्वारा चिरावास युक्त जो बुद्धि है उसके द्वारा वाचम समारूह्य ये जो लौकिक पुरुष क्या करता है प्रज्ञा के द्वारा माने चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा वाणी में आरूढ़ होकर के माने क्या करता है वाणी माने यहां पर बाघेन्द्रिय में आरूढ़ होकर के बाचा सर्वाणी नामनानी आपनोति नामानी आपनोति वाणी के द्वारा सभी नामों को व्याप्त कर देता है सब उच्चारण करता है सभी नाम जित नाम वर्ग वाणी से व्याप्त कर देता है प्रज्ञा के द्वारा माने बुद्धिवृत्ति माने चिदाभास युक्त बुद्धिवृत्ति के द्वारा बाघ इंद्रिय में सवार होकर के आरूढ़ होकर के और उस बाघ इंद्रिय के माध्यम से सभी नामों को उच्चारण करेगा ये लौकिक पुरुष ऐसा आया और प्रज्ञा या चक्षु समारूढ़ हुई चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा चक्षु में आरूढ़ होकर के चक्षु इंद्र में आरूढ़ होकर चक्षु सा सर्वाणी रूपाणी आरूढ़ चक्षु के द्वारा सारे रूपों को व्याप्त कर देता है नाम रूप दो ही वस्तु है वाणी में आरूढ़ होकर के सभी नामों को उच्चारण करेगा और चक्षु में आरूढ़ होकर के सभी रूपों को आकार को देखेगा ऐसा आया है इत्यादि बाज चर और बाज ने वृद्धार्थ भी कहा इस बात को मनसा हे को पश्चिमी मनसा सुनौती ऐसा आया मन से ही देखता है चक्षु होकर के मन ही देखने वाला होता है मनसा हे को पश्चिमी मनसा सुनौती इत्यादि मन से ही सुनता है आया हृदय नहीं रूपाणी जाना दिए भी आया रूपों को जानता है आकारों को जानता है गऊ है अश्व है अमुक अमुक ये ये गाय है भैंस है जानता है मन से ही जानता है मन नहीं है तो चक्षु होते हुए भी नहीं जान पाती है तो अन्यत्र मना अभुगम ना दर्शन ऐसा बोलता है मेरा मन अन्यत्र था मैं देख नहीं सका ऐसा बोलता है तो हृदय ही रूपाणी पर हृदय मानी मन है यहाँ हृदय के द्वारा ही सारे आकारों को जानता है ऐसा आया इत्यादि कहा तस्मात हृदय मनोवाच्य सर्व उपलब्धि कारण तुम प्रसिद्ध हृदय जो मनोवाच्य है हृदय वह संपूर्ण उपलब्धि साधन के कारण प्रसिद्ध है मन प्रसिद्ध है तदात्मक से प्राण और वो मन से अभिनय प्राण अंत करना है वो प्राण इसलिए सारे उपलब्धि के साधन प्राण हो जाता है तदात्मक से प्राण चार की टिप्पणी कहा तदात्मक हृदय मनोवाच्य अंतकरणात्मक हृदय मनोवाच्य जो अंतकरण है वही अंतकरण रूप है अंतकरण प्राण अंतकरण बहिकरण बहिष्करण तो नहीं है अंतकरण है अंतकरण से प्राण यही हो गया तदात्मक प्राण यो वही प्राण सा प्रज्ञा या वही प्रज्ञा सा प्राण इति ब्राह्मण कौशित की ब्राह्मण ने कहा है जो प्राण है यो वही प्राण सा प्रज्ञा वही प्रज्ञा है वो बुद्धि है जो प्राण है वो बुद्धि है और या वही प्रज्ञा जो प्रज्ञा है बुद्धि है सब प्राण वही प्राण है अंतकरण के साथ में अभेद दिखाया प्राण का प्राण अंतकरण को टीका है साधन को में आएगा कर्म संगति रूपस्थ प्राण कर्णों का समुदाय स्वरूप प्राण है सारे इंद्रियों के पुंज है प्राण सूक्ष्म कर्मों का पुंज है कर्म संगति रूप से मान कर्णों का संघात स्वरूप है प्राण यदि अवचार पहले हम कह चुके हैं प्राण संवाद आरोप प्राण संवाद आदि में कहा अच्छा तस्मात यद प्रपदाभ्याम प्राप्त है इसलिए जो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट हुआ है वो तो कर्ण रूप में आ गया प्राण यही कहते हैं प्राप्त है तो। ब्रह्म जो प्रपन्न हुआ ब्रह्म है ये तब उपलब्धूर उपलब्धि कारण तेण तो जो ब्रह्म है पैरों के अग्रभाग से प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ये तद उपलब्धूर ये जो इस उपलब्धा का उपलब्ध करने वाला आत्मा का उपलब्धि कारण तीव्र गुणभूतत्व उपलब्धि के कारण से गौण है वो तो जो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट जो ब्रह्म है वो गौण है नैव वस्तु इसलिए वस्तु नहीं हो नैव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भविष्य इसलिए वो उपास्य स्वरूप ब्रह्म नहीं हो सकता जो प्राण है वो उपास्य स्वरूप ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसे ऋषि ने निश्चय किया पारिशेष्या परिशेष ने दो ही प्रविष्ट है यहाँ एक तो ब्रह्म नहीं हो पाए परिशेष जो गुरुदा से प्रविष्ट है वो उपास्य होगा वो चिंतन का विषय होगा पारिशेष्या अश्य उपलब्ध इसका उपलब्धा जो होगा यश्य उपलब्ध जिसका उपलब्ध इसका जो उपलब्धा है उपलब्ध अर्थात अश्य पारिशेष्यात यश्य उपलब्धोर उपलब्ध अर्थात जिस उपलब्धा के उपलब्धि के लिए ये तस्य हृदय से मनोरूप से कर्म से ये सारे के सारे वृत्तियां जिसके लिए होती है उपलब्धा के लिए ये जो संज्ञान आज्ञान विज्ञान जो वृत्ति बनती है उपलब्धा की उपलब्धि के लिए सारे अविशिष्याद यसे उपलब्ध उपलब्धता जिस उपलब्धता का उपलब्धि के लिए यह तस्य हृदय से ये जो हृदय माने मन है मनोरूप ये जो मन स्वरूप हृदय है इसका कर्म से कर्म का वृत्त हो पक्षमान आगे कहने वाली वृत्तियां क्या है जो संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान इत्यादि जो वृत्तियां बताएंगे मनोवृत्तियां सारी है पक्षमान स उपलब्ध उपलब्धा उपास्य वही इसके जो उपलब्धा है वृत्तियों का उपलब्धा वही उपास्य है स उपलब्धा उपास्य आत्मा दो भवितूर मारते दो बने अस्मात हमारे उपलब्धता जो आप उपास्य आत्मा वही होता है इतनी निश्चय कृतवंता ऐसा निश्चय उन्होंने किया ये कहना चाहते ठीक है स्पष्ट हो जाएगा सारा टीका में कहते हैं तत्र प्राण से कर्णत्व भक्त तावत हृदय मन सवद वाच्य से चक्षुरादि भेद भिन्न उच्चते आह उच्चते प्राण करण कोटि में कहना यह सिद्ध करना है क्योंकि दो आत्मा प्रविष्ट हुआ था कौन आत्मा उपास्य चिंतन हुआ चिंतन करते हैं प्राण को करण कोटि में ले जाना है तत्र दो में से प्राण से ही कर्णत्व प्राण में ही कर्णत्व है मुख्य आत्मा में कर्णत्व नहीं है वो उपलब्धा है प्राण के द्वारा उपलब्धि की प्राण क्या इंद्रियादि रूप से बन करके प्राण के माध्यम से उपलब्ध करता है ये कहना है प्राण से कर्णत्व भक्तों यही कहने के लिए तावत हृदय मन शब्द वाच्य से हृदय और मन शब्द का जो वाच्य होगा चक्षुरादि हृदय और मन करके चक्षुरादि में पहुंचाएंगे हृदय और मन शब्द वाच्य से चक्षुरादि भेद भिन्न महा चक्षुरादि जो विशेष हैं उनको कहते हैं उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं कहा नव की टिप्पणी कहा यद उत्तम इत्यादि भाष्य ग्रंथ भाष्य ग्रंथ यद उत्तम ये भी कहा यद उत्तम पुरस्कार इत्यादि भाष्य ग्रंथ कहा उसको बताना चाहते हैं कहा उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया हाँ? नौ नंबर यही है ना अत्र यदुक्तम इत्यादि भाष्य ग्रंथ है यदुक्तम भाष्य में आगे है यदुक्तम पुरस्कार प्रजा नाम रेतो हृदय हृदय से रेतो मना ये भाष्य ग्रंथ में बात है अच्छा नौ नंबर अच्छा अंतकरण से विशेष नौ नंबर में अंतकरण से विशेष का मैंने मन शब्द वाच्य से अंतकरण से मन शब्द का वाच्य अर्थ अंतकरण है वो चक्षुरादि भेद भिन्न है ये कहा तो उच्चते से कहा उत्तर देते हैं यदुक्तम इत्यादि कहेंगे यदेतद हृदयम इत्यत्र यद शब्दार्थ महा जो यदेतद हृदयम इत्यादि आया हुआ है इसमें यद शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं मंत्र में जो यदेतद हृदय मनस एतद यद शब्द है उसका अर्थ बताते पहले यदेतद हृदय इत्यत्र जो यदेतद हृदय में कहा हुआ है या यद शब्द जो आया मंत्र में उसका अर्थ बोलते यदुक्तम पुरस्कार पहले कहा ये यहां पर हृदय शब्द का अर्थ मन को लेना है मन को लेना है क्यों पहले ऐसा कहा है ऐतर कारण कहा कहा प्रजा नाम रेतो हृदय हृदय रेतो मन ऐसा आया प्रजाओं का सार हृदय है और हृदय का सार मन है ऐसा कहा और मनसा सृष्टा आपस वर्ग से भी कहा मन के द्वारा ही वरुण की सृष्टि हुई जल की सृष्टि हुई ऐसा और हृदय परो मनसा चंद्रमा हृदय से मन की उत्पत्ति हुई और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई ऐसा तदेव एतद हृदय वही है हृदय मनस एकम एतद अनेक था वही जो हृदय और मन एक है अनेक रूप से काम करता है चक्षुरादि होकर के काम करता है ठीक है रेत हमारे सारभूतम कार्यम प्रजाओं का सार क्या है तो रेत रेत माने क्या है हृदय है ये बता दिया प्रजानाम रेतो हृदय में इत्यादि जो प्रजाओं का प्राणियों का जो रेत है मन सार है हृदय है इत्यादि में मनस चंद्रमा इत्यंत आसु यहां से लेकर के प्रजानाम रेतो हृदय से लेकर मनस चंद्रमा तक जो वाक्य है मंत्रों में मनस चंद्रमा इत्यंत आसु श्रुति यदुक्तम इन श्रुतियों में जो कुछ कहा भिन्न भिन्न श्रुतियां हैं वहां यदुक्तम हृदय मनस एवं मनस हृदय और मन हृदय मन है तदेव तदेव ये तत्वया पृष्ठम यही तुम के तुम्हारे द्वारा पूछा हुआ कर्ण है जो तुमने कहा प्राण के आए तो कर्ण कोटि में आ जाएगा ये कहा कर्णम वही है कर्ण हृदय मन है अंतकरण वही कर्ण है प्राण कर्ण में आएगा कहा तदेव एकम एवं वो एक ही होता हुआ वो प्राण चक्षुरादि भेदे ना अनेकता होता वो मन अंतकरण एक होता हुआ चक्षुरादि से अनेक काम होता है देखने का काम देखने का प्रसंग में चक्षु बन के देखता है देखने का प्रसंग चक्षु बन जाता है सुनने का प्रसंग श्रोत्र बन जाता है इत्यादि वही अंतकरण एक ही है कारण तो एक ही है वो तदेव एकम एव एक होता हुआ ही दस नंबर के में कहा हृदय मन शब्द वाच्य हृदय मन शब्द का वाच्य अर्थ एक होता हुआ ही चक्षुरादि भेदे न अनेकता भूतम चक्षुरादि के माध्यम से अनेक होता हुआ श्रुतिगत द्वितीय एत शब्दार्थम आह द्वितीय एत शब्द श्रुति में जो दूसरे जो यत शब्द है दो बार यत है श्रुति दूसरे जो यत है माने तदेतत एक एतत और हृदय मनश्च एतत में दूसरा एतत श्रुति में आया हुआ जो दूसरा एतत शब्द है श्रुतिगत जो दूसरा एतत शब्द है उसी का अर्थ करते हैं श्रुतिगत द्वितीय एतत शब्दात्मा एकम एतत अनेकधा एक ही है वो ये मन अंतकर्म होते अनेक बन करके काम करता है आत्मा के लिए ऐसा कहा अत्र एन चक्षुरादिना दर्शनादि क्रिया करोती संघातात्मक पुरुष तत्चक्षुरादिकम प्रजानाम रेत हृदय इत्यादिशु मनस चंद्रमा इत्यंतासु श्रुतिषु यदुक्तम हृदय मनस अधिकरणम तदेव तदे तत्वया पृष्ठम एतद एव एकम सद अनेकदा भिन्नम चैती श्रुतिगत एन इति तृतीयांत यद इति प्रथमांत यद शब्दद्वयस्य एतद इति प्रथमांत एतद शब्द द्वयस्य च अन्वय दर्शित है सारे अन्वय दिखाएगा अत्र ये न चक्षुरादि ना जिस चक्षुरादि के माध्यम से अत्र माने ग्यारह किलो का यदुक्तम इत्यादि भाषण है जो यदुक्तम का इत्यादि भाषण है चक्षुरादि के द्वारा दर्शनादि क्रियायाम चक्षुरादि के माध्यम से दर्शनादि क्रिया होने उसमें हाँ। जिस चक्षुरादि के द्वारा दर्शनादि क्रिया करता है संघातात्मक पुरुष शरीर पिंड जो दर्शन आदि काम करता है तत्चक्षुरादिकम प्रजानम रेत हृदय वो तो चक्षुरादि क्या है प्रजाओं का रेत है सारा हृदय है हृदय बना अंतकरण है कोई चक्षु बन, बना हुआ है देखते समय में कहा हृदय इत्यादि शु इत्यादि में कहा मनस चंद्रमा यहां तक तरेतो रेत प्रजा नाम रेतो हृदय से मनस चंद्रमा तक का वाक्य जो है श्रुति श्रुति यदुक्त जो कहा हृदय मनस्थ इति कारणम हृदय वो मन है वो कारण है एक बताया तदे तत्वया पृष्ठम एतद एव एकम सद अनेकदा भिन्न वही है तुम्हारे द्वारा पूछा गया प्राण एक होता हुआ अनेक प्रकार से काम करता है श्रुतिगत एन इति तृतीयांत श्रुति में जो एन कहा था उसके तृतीयांत जो पद दिया था उसके द्वारा श्रुति में है ना ये ये नवा चक्षु चक्षुर्भूत पश्चित इत्यादि श्रुति में आया हुआ ये न सब रहे तो चक्षु माध्यम से देखता है ये न चक्षुषा पश्चिति जिस चक्षु के द्वारा देखता है कहा श्रुति का तो ये न जो तृतीयांत पद है और यद यदि प्रथमांतम और यद शब्द यदि तद में आया हुआ यद शब्द प्रथमांत है पहले वाले मंत्र में ये न तृतीयांत था अब यहाँ दूसरे मंत्र में आया यद प्रथमांत होकर आया यद शब्द द्वयस्य ये न और यद आया जो दो यद शब्द है इसका एतत इति प्रथमांत एतत शब्द द्वयस्य और प्रथमांत एत शब्द यही मंत्र में दो है यहाँ यद एतद हृदय मनस्य एतत् जो एतत् शब्द एक जो अन्वय दर्शित इसके द्वारा अन्वय दिखा दिया मैंने पहले जो ये न कहा था उसको यहाँ यद बोल दिया और यहाँ ये तब दो है जो अन्वय दिखा दिया कहा एक अनेकात्मकत्व विषय एक ही अंतकरण अनेक रूप हो जाता है इसके विस्तार करते हैं एतेना इत्यादि कहा एतेना अंतकरण यही अंतकरण के द्वारा अंतकरण एक एक ही के द्वारा चक्षुर्भूत ना रूपों में से जो ये लौकिक पुरुष जो देखता है अंतकरण से के द्वारा ही चक्षु होकर के रूप देखता है अंतकरण ही चक्षु बन जाता है उसका रूप देखते काल में माना अंतकरण से अतिरिक्त कोई है ही नहीं एक ही एक ही इंद्रिया अंतकरण ये बोलना है श्रोत्र भूते न श्रृणती घृण भूते न जिग्रती बाघ भूते न बदती जिहुआ भूते न सहती श्वेद विकल्पना रूपेण मनसा विकल्पयती हृदय रूपेण अद्यवसती तस्मात इत्यादि कहा अच्छा आगे टीका में टीका में कहते हैं सर्वाणी कर्म अच्छा आगे तस्मात सर्वकर्ण विषय व्यापारकम एकम इदम कर्म सर्व उपलब्ध्यर्थम रोधु ये भाष्य में कहा था इसलिए संपूर्ण कर्म के विषय करने वाला जो व्यापार जितने भी हैं वो सारे व्यापारों को करने वाला एक ही अं- अंतकर्म है उपलब्धता के लिए एक ही अंतकर्म होता है एक क्यों मन के बिना कोई काम नहीं कर सकता उपलब्धता ठीक है हम कहते हैं सर्वाणी करणाणी विषयाश व्यापारो यश्य सारे इंद्रिया और सारे विषय जितने रूपाधि विषय है व्यापार है जिसका ऐसा जिसका व्यापार बन जाता है अंतकरण का जिस अंतकरण का व्यापार होता है ऐसा व्यापार वाला अंतकरण है कहा पांच तो के टिप्पणी कहा व्यापार में परिणाम इंद्रिया भी उसी का परिणाम है विषय भी उसी का परिणाम है अंतकरण का परिणाम है वही विषय बनता है वही इंद्रिया बनता है ये कहा करणानाम विषयाणाम से हृदय शब्द बाच्य बुद्धि व्यापार श्रुति में करणों को करणों को और विषयों को हृदय शब्द बाच्य बुद्धि का व्यापार है करण भी व्यापार है विषय है और विषय भी विषय है किसका बुद्धि का अंतकरण का वाच्य अर्थ जो बुद्धि है उसके व्यापार है उसके अतिरिक्त कारण भी नहीं विषय भी नहीं है उसमें श्रुति कहते हैं तथा कौशी तक ही नाम कहा कौशी की श्रुति में बताया हुआ है कहा क्या बताया प्रज्ञया बाचम समारूह्य बाचा सर्वाणी नामानी आपनोती प्रज्ञया चक्षु समारूह्य चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपनोती नाम रूप दो ही है विषय एक नाम है और रूप है दो ही होते हैं तो इनमें क्या है चिदाभास युक्त बुद्धि में बुद्धि के द्वारा प्रज्ञा चिदावास युक्त बुद्धि को प्रज्ञा बोला लोग क्या काम करता है सामान्य लोग व्यवहार करता है जब चिदावास युक्त बुद्धि के द्वारा बाघेन्द्रिय में आरूढ़ होकर के वाचम समारूह या बाघेन्द्रिय में आरूढ़ होकर के वाचा सर्वाणी नामानी आप उस वाणी के द्वारा बाघेन्द्र के द्वारा सारे नामों को घेर लेता है प्राप्त करता है और प्रज्ञा कोई फिर चिदावास युक्त बुद्धि के द्वारा चक्षु समारोह चक्षु इंद्रिय में प्रविष्ट होकर के आरूढ़ होकर के चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपने सारे रूपों को व्याप्त करता है लोग यही नाम रूप दो ही तो विषय है भागेंद्र के माध्यम से संपूर्ण शब्द शब्द जगत को ले लेता है और चक्षु के माध्यम से प्रज्ञा द्वारा आरूढ़ चक्षु में आरूढ़ होकर के अर्थ जगत को ले लेता है शब्द और अर्थ द्वैत जगत का विषय है नाम रूप इसको करता है कहा समय हो गया फिर करेंगे समय हो गया

भवतु माम् भवतु वक्तारम् भवतु वक्तारम् ॐ